ए शिरक करने वालों यकीन रखो कि तुम और जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो सब जहन्नम का ईंधन है तुम्हें उसी जहन्नम में जा उतरना है